इंसान का हाल यह है कि वो भलाई मांगने से नहीं थकता और अगर उसे कोई बुराई छू जाए तो ऐसा मायूस हो जाता है कि हर उम्मीद छोड़ बैठता है